सार्वव्यापक ये अविनाश की होगी वास्तव अव्यय विनाशम आकर्षित अव्यय है तत्व व्यापक इसका विनाश कोई नहीं कर सकता अव्यय विचार के साथ नहीं करता इसका विनाश नहीं कर सकता है वही सर्वदा देहादिवेकम अपरिचित एक जितने आत्मचिकिन होना सब असविचय स्वतः सतो विशेषण सतो नागरिक सत्य का विशेषण है वो अज्ञान स्वतः नागरिक तथा ज्योत पर निपात किया अभिनाशित्व में उसको व्यसन करता है स्वतः विनाश नहीं है प्रसन्नता से व्याप्त जगत तो सर्वोच्च से करते सर्वदाख्य सर्वाख्या जैसे ब्रह्म संपूर्ण सदाख्यम संग्राम को ब्रह्म सब कुछ व्याप्त सब कुछ मतलब किसके लगा आकाशम आकाश न आकाश आकाश के साथ सारा सब ब्रह्म सब कुछ करते आकाश में घटा दे अत्यंत कल्पित है वो भी परीक्षण है गाय के लोग उसको परीक्षण संस्कार से उसको लेकर शिक्षा बताते हैं लोक उपस्थिति को लेकर लोक उपस्थिति आकार समर्थ है सब के अंदर बाहर इस प्रकार आपने बता दे इसी प्रकार सौ नाम को ब्रह्म के द्वारा आकाश के साथ संपूर्ण जगत की व्यक्त निमतम अभिनामी जागत आकाश आकाश में तो पहले से आपको तो सही परमिशन है तो कैसे उदाहरण बनेगा नहीं परमिशन है वो उदाहरण प्रमित होने पर उदाहरण कोई जरूरत प्रसिद्ध मत प्रसिद्ध उदाहरण होता है आकाश में व्यापक जो प्रसिद्ध है उसको उदाहरण बना करके अविनाशी तो प्रसिद्ध है पढ़ाई के लोग अविनाशिका से व्यापक मानते हैं वैज्ञानिक लोग आकाश को अविनाशी व्यापक मानते हैं तो प्रसिद्ध है उसको उदाहरण बना करके अर्थात सप्ताह सत्ता विनाश में हो सकता है सदा के ब्रह्म का यह अभिनाश देते हैं पर से नाश हो गया न देते सतत विनाश नहीं होगा अविनाश और परस्पर विनाश नहीं होगा कोई इसके विनाश नहीं कर सकता है जो गौरी राष्ट्रीय दो प्रकार मान करके व्याख्या करते हैं और दर्शन दर्शन हो गया अभाव और दर्शन हो कर्तिक के अभाव कर्तिक में इसका अभाव कोई नहीं कर सकता है क्या सही इसके अतिरिक्त भाव होने का अभाव नहीं अव्यय क्या है न स्वस्य स्वस्य नयाति इति अध्ययन ये अध्ययन अपचय अपचय अपचय प्राप्त नहीं करता है राष्ट्र तो भी नहीं होती नाश के से सत्य समय स्वरूपेण संबंधित विकल्प आद्य ब्रह्म स्वरूप उपचय प्रत्यय प्राप्त करता है अर्थात संबंध है ना अपने संबंध के द्वारा जैसे संबंध होता देवदत्त अपने संबंध ज्ञान पुत्र नष्ट हो गया वो भी उपचय प्रत्यय प्राप्त करता है ज्ञान पुत्र आदि के द्वारा ठीक विचार को प्राप्त करेगा उपचय प्रत्यय को अपने संबंध किसके द्वारा विकल्प करके आय प्राप्त करते नहीं सर यहाँ की ध्यान देना वाक्य ब्रह्म तेन रूपण किए मेरे विश्वास ध्यान स्वरूप संशय निरूपण के स्वरूप निरवय होने से स्वरूप विचार उपासना नहीं है निरवय ब्रह्म आत्मीय तो संपत्ति के द्वारा व्यय हुआ ब्रह्म कैसा नहीं क्यों नहीं आत्मीय अभाव आत्मीय को ही ठीक है सदैव व्यक्ति के दृष्टांत रख सकते ब्रह्म का आत्मीय कोई नहीं है इसके विपक्ष दृष्टांत उसका देवदत्तो अनान्य देवदत्त में प्राप्त करता है चला गया को छात्रों की सदैव का मतलब नहीं देवदत्त का धन हाथ में है धनपुत्र प्रसाद हाथ में है उसके नाश से देवदत्त भी अपने को प्राप्त किया किंतु आत्मीय को यही आत्मा के बिना कुछ यही नहीं आत्मा हो दोनों प्रकार का स्वरूप प्रत्येक अपने प्राप्त नहीं करता है और आत्मीय संबंधित भी नहीं होता धीरे धीरे भी बढ़िया होगी दोनों प्रकार ज्ञान हुआ सर्वत ज्ञान स्वसंबंधित ज्ञान हुआ तो ज्ञान समा परिसमा असो अध्यय ब्रह्मण हो अध्यय होने का सर्वतः ब्रह्म आकर्षित कर सकता ये ब्रह्म परसो न अन्य नष्ट नहीं होगा जब आत्मस्वाद का खंडन खंडन पर से नष्ट होता है आत्मा महात्मा आत्मा होने के कारण जैसे कि दृष्टांत हो जाता है ब्रह्म परस्पर तो क्या है आत्मस्वाद घटनात्मक है तरह परस्पर अभाव शांति और अगर पड़ोसना छोड़ छोटा है धर्म से धर्म को न मानते का अभाव का अभाव वचन आत्मा सुधा क्या है आत्मा तो है इसलिए परमात्मा होगा न से कोई विनाश नहीं कर सकता ईश्वर होने पर भी कोई अपने आत्मा का नाश नहीं कर सकता आत्मा को हेतु अस्तित्व निकल आत्मा को हेतु ब्रह्म ले लिया इसको नहीं लेगा तो जी जीवित होगा इसका विचार करके तो नहीं आत्मा ही ब्रह्म क्या सीखा आध्यात्म सुखी अस्त्री आत्मा ही तो ही ज्ञान कहते ब्रह्म है सर्वमिदम ब्रह्म है सप्तम ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है ये सुखी प्रमाण है स्वयं ब्रह्मात्मा नाटकम स्वयं ब्रह्म उपासना अपना नाटक हो ब्रह्म अपना नाटक हो नाटक अपना नाटक ब्रह्म कोई उनको करके रस्सी करके पेड़ में ला बन जाता है नाटक हो जाए आत्मा ही ब्रह्म वास्तविक क्रिया नहीं था वास्तव में क्रिया नहीं अपने में क्रिया वो तो देहादि में क्रिया है देहादि के नाम वास्तव में आत्मा ही जाना जो बहुत समझ है इसे और सत कौन है अविनाशी सत्य की बिना सर्व विषमता तो ये सब जानते होंगे वही गए नागत विद्या के भाव सत असत दोनों आया और विद्या में भी सब क्या है अविनाशी सत्य भी सत हमेशा सभी है ये अविनाशी सदा के ब्रह्म अभी असत का निर्धारण करने की इच्छा किम पुनः तदसती इत्यादि अपने सत्ता को इत्यादि को प्राप्त करता है कल्पित तो एक होने का असत इत्यादि असत असत वैसे निर्धारित तो असत असत कभी नहीं होता असत विभाग असत का लाभ निश्चित हो गया तो प्रश्न से निर्भरता तो प्रश्न से निर्भरता ये प्रश्न क्या करना निश्चित हो गया टीका शून्यम यावत्य विवर्षित अपना देता असत शब्द शून्य हो जाता है कुछ है यहाँ असत शब्द से शून्य नहीं रहता शून्य की व्यावृत्य शून्य तो शून्य की व्यावृत्ति है शून्य को न करें विवर्षित मिथ्या रहना असत निर्धारण मिथ्या करने के लिए सत्य विषय वस्तु से साधुता से प्रमाण साधुता से देर अनाथ संदर्भ से असत शब्द विषय रहते हैं बिना अनाथ में बिहाती तो असत शब्द का विषय असत शब्द का विषय शासन का निरक्षण पेड़ को और समस्त पिता तस्मात हे भारत जिससे जो जिससे जो कर्म होता है उसमें ये नष्ट हो जाएंगे मेरे बिना ये छुप करता है आत्मा का देगा ये कहते कि जो आत्मा है अगला देना है अनुभव से अनाज में आत्मा है उसका अनाज नहीं होता है इसलिए इस कर्म को पंचानवे पाठ करो जो लिखा है नहीं जो करने के लिए प्यार था और ज्ञान समझ ज्ञान पूरा होता था हम निमित्त के लिए कहते हैं करो आत्मा के अधिकार से बताए तो जो आत्मा है स्वातंत्र निरस्त नेता देहा अंतवर्त है ये स्वतंत्र है इसका विकास जब विधायक हम करते नित्य नहीं रहे यह स्वतंत्र है आकाश आदि जागृत कहेंगे तो माया के लोग वैज्ञानिक लोग आकाश नित्य पर तो आकाश आदि का नित्य आदि से काल इतने नित्य मानते नहीं के लोग जागृत नहीं इससे कि खुलेगा शरीर दिमाग शरीर अस्य शरीर वाला दो प्रकार लेकिन वास्तव निश्चय सत्य निश्चय लेकिन परिणाम निश्चय साक्ष्य को मानते हैं प्रकृति को निश्चय करते परिणाम कभी परिणत होता है समाकार परिणाम कभी समाकार परिणाम तो कभी हमेशा रहने से तो निश्चय है लेना अनाथ का निश्चय लेना वो करते निश्चय प्रत्यक्ष आदि अभिषेक का ऐसा निश्चय वस्तु तो झगड़ा नहीं होगा बिना तो हम सब तो बिना दिखे करेंगे हमको संस्कृता से हम सब सब हम को अंतर कौन अंतर अंतर हम सब यह तो सब सब होता है चाहे मृग पुष्पिका हो या पाते तो मृग पुष्पिका उतरता है मृग पुष्पिका को जो उतरते अद्भुति मृग पुष्पारायण में जल बुद्धि जल मत्स्य बुद्धि हुई सदबुद्धि हुई रसी में कल्प बुद्धि है सदबुद्धि होती है कल्प सदबुद्धि की अनुभूति समाज के निरूपण करेंगे आगे सदबुद्धि होती सदबुद्धि संस्कृति होती इसी तरह कोई उसका अंतर है फिर साधु होती है जब प्रमाण से आगे सर्व रज तत्व में नहीं होती तरीके से सूर्य के अवयोग में नहीं होती ये विषय हो गया ये शास्त्र बताया दिया यह इस प्रकार सदबुद्धि निर्माण करने है एक ही आत्मा शब्द है इतने विषय से स्वव्यावृत होने का विषय रूप से वो विषय सब सामान अनुभूत ही सबसे सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र हो सर्वदा हो ये आत्मा जो कभी रहे कभी नहीं रहे हो से का अभाव नहीं होता है किसका अभाव होता है वो वास्तव में कथित इसमें भी कभी रहता है कभी नहीं रहता है एकत्र है एकत्र अन्यत्र नहीं है सफल हो तो जाता है इसलिए वो असत है मिथ्या वही सांसद निरूपण बनते देवता है देवता भी मिथ्या हो जाता है सदैव देहा सद्बुद्धिवाद होगी यदि सद्बुद्धि वाले है अस्सी से बात होगी ब्रह्मार्थ निरूपण आया ब्रह्मार्थ निरूपण करना और सारा निषेधा अंत में निषेध होता है सब कुछ प्रतिपन्नवत अनुमातम शक्ति विद्या प्रतिपन्नवत सपना में देह दिखता है वो वास्तव है वास्तवाला है इत्यादि देह स्वादि हेतु पर जागृत देहादि जागृत देहादि राधे अंतवादी राधे तो अंतवादी है प्रवाह आत्मा संबंध से प्रवाह से आत्मा का देहादि के संबंध होता है तो संबंध अनुभव संबंध का अंतर एक सारे का दूसरा सारा और एक सारे का प्रभाव एक सारा नस्वा और एक नस्वा और एक साथ आत्मा के साथ एक साथ नष्ट होने पर अन्य सारे का संबंध होता है प्रवाह को छोड़ दो प्रवाह कोई को वस्तु रहेगा प्रवाह हाँ, बहुत सारे लोग कहते ज्ञान का प्रवाह चलना है अगर जो दिखता है वो ज्ञान में प्रशिक्षण तो उत्पन्न ना होता तो हाँ, ज्ञान तो प्रवाह क्या है प्रवाह को अलग कर देंगे ज्ञान को प्रवाहना नाम को केवल से प्रवाह से कैसे होगा टीका तो में प्रवाह से प्रवाही व्यतिरिक्त अनिर्वाह प्रवाह वाले को छोड़ने पर प्रवाह का निर्माण नहीं होता है और सदात्मा बिहार के अभाव देहात जो नहीं रहेंगे तो प्रवाह रूप से आत्महिता समझ और ऐसा नहीं होगा जबकि संदेह तो देखिए आदमी को नित्य आत्मस्मरण बोलते हैं अंतवाद है ऐसा विवेक्षण लिखा अर्थात तो देरी के साथ आत्मा का संबंध रहेगा इस बार में तो देह नष्ट हो जाता है तो ये तो देह तो अंतवाद वाले संबंध में नहीं रहेगा आत्मा बदलते लेकिन शरीर नित्य होगा तो सनातन ही होगा निश्चित निश्चय करते नित्य बोले जाति करते भाषण नित्य अनादि पुनरुत्तम नित्य भाव करके फिर अनादि करेंगे तो पुनरुत्थित होते जाने दो के वसन हो गया अवसन हो गया नक्षत्र जनानोती अन्वेषा क्या रोग होगा यह तो है कि अन्यथा परिणत तो होगा दुर्बल हो गया या अध्यात्मिक हो गया हो गया अन्यथा परिणत जासो नष्ट हो गया नष्ट पाते नष्ट हो गया यह नहीं रहने पर भी नष्ट पाते दुर्बल हो गया तो नष्ट हो गया काम से दुर्बल हो गया घाट हो गया तो नष्ट हो गया की बात है ये आत्मा में दोनों प्रकार नाचना करके दोनों प्रकार आत्मा का पूर्ण प्रकार नाचना ठीक है ध्यान निश्चय मिलता है उपस्थ निश्चय है जैसे सांख्य लोगों से परिणाम निश्चय ऐसा है परिणाम निश्चय होने के लिए क्या है परिणाम होगा और परिणाम होने पर भी सदबुद्धि निश्चय एक प्रधान है मिट्टी से बना बना से पर भी मिट्टी को निश्चय वही मध्य ये परिणाम ही निश्चय अलग वो नहीं आत्मा ही बदल आत्मा से कोई परिणाम नहीं मात्र उपादान है परिणाम निश्चित आत्मन संकेत निश्चित बना रहेगा केवल निश्चित हो गया सत्य होना नाचना दिया इतने कौन से परिणाम निश्चित आत्मा में आ जाएगा निश्चित से परिणाम निश्चित साक्ष्य लोग प्रदान को ये सप्ताह ज्ञान निष्ठा संगठन से बहुत न सके अन्यथा पृथ्वी में अधिवत पृथ्वी में उत्पत्ति नाश होने पर तो इसकी बुद्धि होती उसको निश्चय करते प्रधान निश्चय यही से निश्चय हो जाएगा आत्मा प्रधान निश्चय हो जाएगा नित्य से अनात्म क्या प्रधान नित्य तो आत्मा नहीं रहता नित्य अनात्मा का नित्य रहता प्रधान नित्य उपनिषद विशेषण भाष्य से अपरणीय आगे भाष्य में अपरणीय क्योंकि अपरणीय वही समाज न प्रमेय से अपरणीय प्रमेय क्या होता है प्रभा का विषय को प्रमेय का प्रभाव का विषय प्रत्यक्षादि प्रमाणे अपरिचय प्रत्यक्षादि प्रमाण से जब परिचय होगा यह होगा ये होगा को कहते के परिचय का नहीं होगा ग्रहण नहीं होगा जिसका वो स्वाभाविक तो आत्मा के प्रत्यक्ष के करने ज्ञान का होगा प्रमाण ज्ञान का विषय करके परिचय किया प्रमाण परिचय ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के परिचय देवता प्रमेय हम प्रत्यक्ष प्रमाण अपरिचय प्रमेय नहीं प्रमाण ज्ञान कहते हैं औपनिषद परिषद कौन को औपनिषद पुरुषम प्रचार इस जाने के बारे आगे बढ़ते स्पष्ट किया कि उपनिषद के तरफ औपनिषद पुरुषम तो आगे बड़े समाधान है तो उपनिषद प्रतिपादन का है उपनिषद प्रमाण के द्वारा उसका प्रतिपादन ज्ञान होता है तो उपनिषद के द्वारा ज्ञान होता है परिषद पद होता है उसको लेकर के अप्रमेय कहता है उपनिषद प्रमाण से ज्ञान होगा तो अप्रमेय कहता है आत्मा परिचित प्रत्यक्षाधन साधन से आत्मा का परिचय ज्ञान होता है पूर्व प्रत्यक्षाधन प्रत्यक्षाधन आत्मा निश्चय होता है आत्मनो न प्रमेय से विचार इस कारण से आत्मा अप्रमेय प्रत्यक्षाधि प्रमाण से ज्ञान निश्चय होता है आगम प्रभु अपेक्षा चिदावस्थाया आत्मा एव परिस्थिति तस्वीर और भगवान प्रत्यक्षाद के द्वारा कहते हैं आगम प्रवृत्ति अवश्य आगम प्रमाण उसके प्रवृत्ति होने के पहले पूर्वावस्थाया आगम प्रमाण प्रवृत्ति होने के पहले प्रत्यक्षाद के द्वारा आत्मा एवं परिचित आत्मा ही परिचित आत्मा का ज्ञान होता है तस्वीर और ज्ञान तत्व संभावना क्योंकि आत्मा नहीं अज्ञात संभव है अज्ञात जितने है उसका भी प्रमाण के द्वारा ज्ञान होगा क्योंकि प्रमाण का लक्षण है अज्ञात ज्ञात तो प्रमाण प्रमाण क्या था अज्ञात ज्ञान ज्ञात अज्ञात वस्तु में ज्ञान जन्म होगा तो प्रमाण होगा इसलिए प्रमाण लक्षण इसलिए क्या हुआ अज्ञात है आत्मा नहीं अज्ञात होने से पूरा होता है अज्ञात से आत्मा का भान होता है ऐसे तो मानते हैं तो आत्मा पहले तो ज्ञान हो तभी आगे प्रमाण ज्ञान होगा तो आत्मा प्रवृत्ति के पहले आत्मा में अज्ञात तो रहेगा तो आत्मा में परिचय के परिचय के अज्ञान में ज्ञान और वेदांत ही मानते और माया के लोगों के प्रति आत्मा का प्रत्यक्ष होता है मानते द्वारा कहते हैं ये के द्वारा परिचित हुआ आगे आगमन से प्रमाण से होगा तो प्रवेश कैसे होगा प्रमाण की आवश्यकता प्रमाण आवश्यक किसको प्रमाता प्रमाता पहले बहुत प्रमाण प्रमाणानुसार पड़ेगा इसको जानने के अब पहले यदि प्रमाता ही नहीं तो तो प्रमाणानुसार कौन करेगा प्रमाण पहले है या प्रमाता पहले प्रमाता यदि नहीं रहे यही आत्मनि प्रमाता है आत्मा प्रमाता परिचित हो तो प्रमित हो प्रणामित हो प्रमाण कृष्ण को जो प्रमाण प्रमाण उसके निश्चय करना चाहते हैं वो प्रमाण का ज्ञान करेगा यदि पहले प्रमाता सिद्ध हो ठीक है स्वामी स्वामीय परमेश्वर स्वामीय को प्रमाण को प्रमाण दर्शन करना पहले प्रमाता सिद्ध हो तदेव व्यतिरेक मुख्यालय विषदे विषदीय दत्पत्ति करते एक के साथ विपरीत समाज नहीं वो इतना अहमित्य आत्मा अप्रमाय पश्चात समय परिचित प्रवर्तन पहले मैं हूँ इस अपने को नहीं जान करके समय और अटपटादी को देखने के लिए कोई प्रवृत्त होता है अटपटादी वस्तु को देखने के परिचय मैं हूँ ऐसा अपना अपने दिखा कोई ख्याल रहे दूसरे को देखना चाहिए ऐसा होगा दूसरे को देखना चाहता है तो अपने साक्षी है वह इतना आत्मा अपरमाय अपने को नहीं जान करके दूसरे को अटपटा देखने के लिए प्रमाण हमेशा करेंगे ठीक आप प्रसिद्ध सर्व अपने को जानते हैं कभी किसको नहीं होता हम अपने नवाज किसको नहीं होता हम आदमी नहीं हो इसका ब्राह्मण नहीं होता ये सत्य है प्रमाण संयम इसके लिए समाज या मिश्रण नहीं करना है नहीं आत्मा नाम उपस्थिति प्रसिद्ध हो आत्मा किसके लिए अप्रसिद्ध नहीं घटापटा भी अप्रसिद्ध है देखा तो होता है भगवत नवा हम सबसे आत्मा से अपरिचित होता है तो आत्मा की निशा हम नवा उसे सत्य होना चाहिए हम ना कि नाम होना चाहिए ऐसा नहीं होता अपरिचित नहीं प्रत्यक्षाधेर समान समान है अनात्म विषय अनात्म विषय करते अनात्म वस्तु को विषय करना तत्र अज्ञातताया व्यवहार संभवात तत्र प्रत्यक्ष अनात्म ही अज्ञातताया व्यवहार व्यवहार हो सकता है व्यवहार संभवात पाते व्यवहारिक व्यवहार संभवात व्यवहार अज्ञातताया संभवात तत्र व्यवहार का है अध्यात्मा में अज्ञातता का व्यवहार हो सकता है व्यवहार संभव तो है ऐसा नहीं सामान्य से व्यावहारिक सामान्य होता व्यावहारिक व्यावहारिक सामान्य विशिष्ट तत्सोते विशिष्ट देहादि विशिष्ट में सामान्य की बहुत होती जब प्रत्यक्षाधिकार निश्चय होता है आत्मा का देहादि विशिष्ट में शुद्धात्मा में में प्रामाण्य व्यावहारिक प्रामाण्य बहुत होते हैं केवल शुद्ध शास्त्र प्रभु शुद्ध यद्यपि न आत्मा ये शुद्ध केवल में सदा तथा भी शुद्धि जो उपनिषद क्या है उपनिषद भी प्रतिपाद्य की तो शुद्धि शास्त्र से तत्व प्रभु के शास्त्र प्रमाण से प्रभु चाहिए आत्मा प्रशिक्षादि भी प्रमाण नहीं हो या केवल में भी प्रमाण ये तो चलेगी प्रशिक्षित तो होनी चाहिए तो परिषद कैसे बनेगा शास्त्र को अंत्य प्रमाण अंत्य प्रमाण शास्त्र क्या करता है और सब धर्म अध्याय परमात्मा निवृत्त करते हैं परमात्मा आत्मनिर्भर करते हैं सबको ज्ञान ज्ञान करेगी आत्मा को जो ज्ञान करेगा और ज्ञान अर्थ ज्ञान को करेगा आत्मा को अध्यास तो उसको ज्ञान करेगा प्रकाश करेगा कैसे वो करेगा आत्म प्रमाण कैसे और सब धर्म अध्याय परमात्मा निवृत्त करते हैं हाँ सब असत्य धर्म धर्म असत्य आत्मा के धर्म सब होता ब्रह्म उससे विनोद असत अनात्मा के धर्म अनात्मा के धर्म क्या है सौल्यम सुबह सूक्ष्म हमें धर्म के अत्यारोपण होता है शुक्रवान गौरवान या है अन्नों इतने अनात्मधर्म में सबका निराकरण किया सुगन अनादेश नीति कर करके और का जो आरोप होता आत्मा के जो धर्म नहीं वो धर्म में आरोपित हो धर्म आरोपण आरोपण मात्र का निवर्तक होता है जो अष्ट का आरोपण होता है उसका ही निबद्ध होता है शास्त्र नेत नेत करके इतने विगत का निराकरण करें का प्रतिपादन करें अस्थूलम अनम उनका निराकरण ही ये करके प्रमाण समाप्त आगम अपने को प्राप्त करता है क्या करके मतलब धर्म अपने आरोप निबद्ध है जो उसका धर्म नहीं जिनका आरोप होता आत्मा उनका विरोध से कर सकते हैं आत्मा स्वयं प्रकाश इसलिए प्रति को केवल पता है घट को हटा दिया तो प्रति को स्वयं प्रकाश माने इसको देखने के लिए अंतिम प्रकाश की आवश्यकता है इसी प्रकार यहाँ अवसर मध्यान्ह पर निवर करें अविद्या का निवर करें अवश्य ब्रह्म ब्रह्माचार को शिक्षा करें केवल अविद्या आवरण को हटा दें अविद्या से ब्रह्म स्वयं प्रकाश उसको प्रकाश करने के लिए kadang-kadang itu dibagikan dari teknik yang selesai untuk intelijen artinya pada lain maka berlaku berada mesti sama bisa bagian tekniknya bagian kemudian sih maka kalau mestinya terjadikan pertimbangan di rumah maka kalau pertimbangan di proses jalan ini kebetulan jalan ofisnya berapa nanya berapa sehingga berapa kalau mesti pertimbangan jalan ofisnya berapa berapa nanya निष्फल रहते नहीं लेकिन प्रदीप का प्रकाश में था धीरे धीरे रहेगा प्रतिकूल आने पर भी सौजन्य अतिशय सूर्य में क्या था इसी प्रकार प्रभाकार सुखी प्रदीप चलेगा इसको फल कहते सौजन्य अतिशय ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म में फल व्यक्ति का निराकरण होता है ब्रह्म किसी प्रमाण में प्रकाश से नहीं होता है इसी प्रकार यहाँ भी अब सत्ता निबद्ध है इतने मात्र से पालना हो गया तो ज्ञान ज्ञान को ज्ञान आगम प्रभावी ब्रह्म को प्रकाश करता है अज्ञात अर्थ ज्ञान को कितना प्रभावी होता है ठीक है छात्र ब्रह्म ही प्रतिपादित है प्रत्येक ब्रह्म का प्रतिपादन होता है प्रतिपादन कौन से प्रमाणादि विधान से व्यापक प्रमाण का प्रमाण प्रमेय विधान जब ब्रह्म का प्रतिपादन होता है ब्रह्म का ज्ञान होता है प्रमाण प्रमाण प्रमेय बना रहेगा उसे वास्तव में अधिक क्षमता है पुरुष वाक्य में रामायण सब आएगा पुरुष को ज्ञान भी पहले हुआ यथार्थ ज्ञान हो तब तो उसके वाक्य से भ्रम है तो आगे भ्रम करें यथार्थ ज्ञान होने पर एक पुरुष वाक्य में अपराधी की क्षमता है तो एक पुरुष उससे उठाने के लिए एक विपरीतता के द्वारा बनते हो सकता है पुरुष वाक्य में ब्रह्म विपरीतता करना पटो करना तो ब्रह्म हो जाएगा ये सब दोष की संभावना है संज्ञान ज्ञान बनेगा तो सच्चाई ज्ञान किया सबको काले भी प्रति जो प्रत्यात्मा का नाश होता है जिसका शुद्ध का देहात किसी का परिणाम होता है कितना होता है मनुष्य कितना होता मनुष्य करता हम इत्यादि मनुष्य तो प्रतिपादिना ये असता में आत्मा में मनुष्य तो है नहीं असत है नहीं मनुष्य तो कर्तृत्व है वक्तृत्व आदि है ईश्वर सत्यमय अज्ञातमय मनुष्य मनुष्य से प्रतिशत मनुष्य से मुक्त है यह पत्र उनका अभ्यास होता है क्या होता है आत्मनिक प्रत्ययमान कौन प्रत्ययमान होता है अपधर्म कर्तृत्व मनुष्य होते आत्मा समाज को समस्या निवाक्य क्या करेंगे ये सर्वनाश प्रतिवर्तन अश्वचार होता है वर्तन सर्वनाश सर्वप्रतिष्ठ होता है मनुष्य कर्तव्य प्रमाणिक उनका निबद्ध होकर आत्मा होता को प्रकाश नहीं करना पड़ा का निवर्तन सक्षम सामान्य को सामान्य को प्राप्त है निवर्तन पर क्या करते हैं एकदम से निबद्ध तत्वाद एक थोड़ा समान है निबद्ध तत्व से ब्रह्म का निबद्ध होकर के समान है निबद्ध तत्व क्यों अत्यंत होता है मोह निबद्ध है गौतम भी प्राणवादी धर्म कितने शास्त्र मोह निबद्ध होता शास्त्र ज्ञान का निवर्तन होकर निवर्तन होकर प्रमाण है अब सब तो धर्म अज्ञान अगर बुद्धि असदृश में जा करके क्या करती है अंतर के अज्ञान को नाश करती है अंतर ज्ञान होने के की परिभाषा मतलब अज्ञान जब वो अंतकरण में चैतन्य का प्रतिम होता है तो उसी को कहा जाता है अंततः बाहर जाने पर वृद्धि होने पर ही उसमें चैतन्य का प्रतिम रहेगा फिर जो अंतकरण बाहर जाता है चैतन्य का प्रतिम भी उसके साथ रहता है उसी तत्व सीधा भाषो ज्ञापन को खत्म तथा ज्ञान ज्ञान से आकाशन असत्य बुद्धि और बुद्धि में प्रतिकार ये दोनों ही आदत में जाए इंद्रिय द्वारा आदत में जाते बुद्धि सत्याभाव और अभी स्वाभ स्वाभ भी ज्ञापन को खत्म आदत जाते होगी सत्ता ज्ञान आदत सत्ता ज्ञान ज्ञान के अंतकरण बुद्धि के द्वारा मैं चैतन्य चिदाभास ही चिदाभास इष्ट बुद्धि है वो ज्ञान उसको नष्ट कर देंगे और उसकी प्रतिपक्ष चैतन्य जिसको चिदानंद का फल का दिया पूरा लोग भक्त को प्रकाश करेगा भक्त करे घटाकर उसके प्रतिपक्ष चैतन्य जन्म में अतिशय मगन आ जाएगी भक्त का क्या पूरा भी शंका करता है घटा को ही घटा में जैसे उसकी प्रतिपक्ष चैतन्य पूरा जन्म अतिशय आया इसी प्रकार आदमी क्या करता है प्रमाण उसकी प्रतिपक्ष चर्चा का जनक होता है जनक होने से अनादि का प्रकाश होता है ठीक इस बार ब्रह्मा में दोनों की चर्चा करते हैं शास्त्र प्रमाण भी ब्रह्माकार ब्रह्माकार जना अभिषय पुराना रूप अभिषय ब्रह्मा में आ जाएगा जनक हो जाए शास्त्र प्रमाण दे इसे बताकर बताकर प्रतिशत और किसे घटनान से घटना का प्रकाश होता है प्रमाण होता है इस प्रकार शास्त्र प्रमाण तक होना चाहिए बताकर सिखाएगा प्रतिशत अनुपात और प्राण के आत्मा अजर चैतन्य इधर कोई चल देगा उसे दूसरी प्रतिफलित चैतन्य जरा सीखेगा नहीं आएगा उसकी प्रतिफलित चैतन्य बिंब प्रतिम्ब रहते बिंब रूप चैतन्य प्रतिम्ब चैतन्य क्या नहीं करेगा नसु नसु अज्ञात अर्थ ज्ञान वचन अज्ञात अर्थ को प्रकाश करके प्रमाण नहीं होता ब्रह्मात्मनो माना दीक्षा मंत्र स्वतंत्र प्रमाण ब्रह्म की आत्मा प्रमाण प्रमाण के विषय के पूरा होता उसे प्रमाण प्रतिवर्ष ने सत्ता साक्षा व पुरुषान ब्रह्म निरात्मा सर्वात्मा साक्षात साक्षात है प्रमाण के विषय के प्रमाण के व्यापार के बिना अपरुक्ष अपरुक्ष प्रमाण व्यवधान की आवश्यकता अपरोक्ष ब्रह्म जो आत्मा सर्वा जो ब्रह्म है वही आत्मा है जो साक्षात के ब्रह्म है जो आत्मा है सर्वात्र पर साक्षात सर्वपरिष्ठता है जो ब्रह्म है ये आत्मा है सर्वात्र जो समाज जाता है लेकिन अपक्ष अपक्ष आत्मा है वो ब्रह्म है और सर्वात्र आत्मा सर्वात्र यदि ब्रह्म है ये आत्मा है ये ब्रह्म है ये आत्मा है अपरक्ष ब्रह्म जाता है ठीक है त्याग का क्या था अन्यापेक्षा मतलब अन्य इसकी अपेक्षा प्रमाण के माना बड़ा विश्वास को देखने प्रमाण की अपेक्षा ब्रह्म रूप के लिए अन्य प्रमाण के बिना अपरोक्षाद विद्या था अपरोक्ष प्रमाणात्मक आत्मा से देना नहीं वही सर्वाध्यान करके न सबके अंदर हुई सर्व वस्तु सारस्वाद सर्वी सर्व पुरस्कार सर्व वस्तु का अधिकार सर्व वस्तु कल्पित है चित वस्तु कल्पित साधन आत्मा और आत्मा में जाते क्यों इसे बाकी और उसका आत्मा की व्याख्या करो आगे तो ये मेरा अविनाशित्व प्रतिपाद्य कर्तव्य आत्मा अप्रमेय अप्रमेय और अविनाशी तो ज्ञान हो गया आत्मा निश्चित वाले ज्ञान हो गया अब यज्ञ भी करना तो कर्म भी करना तो ज्ञान कर्म समय समझ सर्वान पूरा किसी कहता है ज्ञान कर्म तो नहीं करना चाहिए ऐसा संक्रांति करते नहीं अब अक्सर युद्ध कर्तव्य का विधि युद्ध कर्तव्य है विधि नहीं है युद्ध सहित वचना कर्तव्य तो विधि रखती तो युद्ध से दो प्रकार तो है तो विधि है ऐसा संक्रांति करते प्रभुत्व है भैया तो अर्जुन युद्ध में प्रभुत्व है प्रथम विश्व माम इत्यादि अर्चना से विद्वपरम परम्परा वचन हमें प्रभु था अर्चना यही कहता है विद्युत परम्परा वचन है प्रथम विश्व महान संख्यो इतना प्रतिबद्ध हमें प्रभु तथा ज्ञान के प्रतिबद्ध चुपचाप निबद्ध हो जाएगी इसलिए असत्य कर्तव्य प्रतिबंध अपने मात्र में हो जाएंगे जो कर्तव्य में प्रतिबंधता शोक मन को इसका अपने करते भगवान शोक को मौत को बना देते प्रतिबंध हट जाएगा तो जो पानी करता तो कोई हो जाएगी ठीक है यदि सत्यो युद्ध प्रवृत्ति करे भगवत वचन से कारण यदि अर्जुन की सत्य प्रवृत्ति भगवान वचन विचार भी सत्य प्रतिबंध अपनाने केवल भगवान करते हैं praticare diciamo, la, questo frutto a tramite l'università io Thank you.